बहुत्वम प्रसाद विवेक ज्ञान उपयोगितया तस्य धर्मान आह मैंने पुरुष अनेक जय तो बात बता दी कि उन्नीसवीं कारिका शुरू हो रही है अब विवेक ज्ञान उपयोगी है मैंने उस पुरुष को देख जानने के विषय में अतः तस्य मैंने पुरुषस्य धर्मान आह मैंने पुरुष में कौन कौन सी चीज़ें हैं क्योंकि ये अत्रिगुण है कैसा है तो साक्षी है ये करता नहीं ये सब बताने वाला है कैबल इसको चाहिए ये मध्यस्थ है देख रहा है क्या हो रहा है ये बताने जा रहा है तस्माच विपर्यासात सिद्धम वहाँ जो पीछे कौन आ प्रसव धर्मी यहाँ से लगाना तस्मात पीछे कारिकात व्यक्त जो बताए गए उनसे विरुद्ध हाँ यहाँ से सब लगाना है किसी ग्यारहवीं कारिका से शुरू होकर जहाँ तक उसका तस्मात पकड़ना है तस्माच विपर्यासाद विपर्य माने अभाव विपर्य के होने से मान उन उन धर्मों का विपर्य होने से क्या होता है पुरुषस्य अस्य पुरुषस्य साक्षित्व सिद्धम मान यह पुरुष क्या सबका साक्षी है क्योंकि वो सब जड़ है और साक्षी कौन होता है चेतन होता तो यहाँ साक्षी का तात्पर्य है उदासीन भाव से क्योंकि साक्षी क्या होता है जो वादी प्रतिवादी दोनों के विषय में कुछ कह सकता है वो साक्षी होता है उदासीन क्या होता है ना प्रतिवादी से मतलब है वादी से मतलब है मैंने साक्षी तो हुआ एक जैसे उसको गवाह बोलते हैं हिंदी में उर्दू में तो वह क्या हुआ किसी के कुछ कहेगा कि उन्होंने ऐसा किया यहाँ पुरुष ये भी नहीं कहता यहाँ साक्षी की तरह किसमें प्रयोग हो रहा है उदासीन भाव में वो इससे भी मतलब उदासीन भाव में अस्य मान पुरुषस्य सिद्धम साक्षित उदासीन भाव और क्या है कैवल्यम मोक्ष के लिए प्रबंध तो कैवल्य भी इसी में रहेगा और क्या है माध्यस्थम मध्यस्थता अलग चीज है वही कौन होगा मध्यस्थता वल्य में आएगा ये दोनों को कर सकता है अर्थात यहाँ का जो मध्यस्थता एक तरह का साक्षी वाला हुआ और साक्षी वाला किसमें उदासीन में और क्या है दृष्टित्व उसमें दृष्टिभाव है और भाव भावस्या लेकिन क्या कर्ता कौन है प्रकृति है और पुरुष क्या है दृष्टा है पुरुष क्या है साक्षी है पुरुष क्या है कैवल्य है कैवल क्या है मध्यस्थ है वही देखो यहाँ लेगा तस्माच इति चा शब्द पुरुष से बहुत सा धर्मांतराणी समुच्चनोति का तस्माच शब्द क्यों प्रयोग किया है माने जो अनेक पुरुष हैं उनके साथ इन सब में ये धर्म रहता है साक्षित्व भी रहता है दृष्टित्व भी रहता है माध्यस्थ भी रहता है और अकर्त्री भावशा इसलिए यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया है चा वही तस्मात चा च शब्दा पुरुष बहुत धर्मांतराणी समुच्च नोती विपर्यासात मैंने अभिपर्या इति अस्मात क्यों नहीं प्रयोग ऐसे ना करें तस्मात चा विपर्यासात प्रयोग करना चाहिए विपर्यासात अस्मात अस्मात अनकर इदमस्तु सन्निकृष्टे ते तदो रूपम आदशस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे भिजानियात तो कह यदि अस्मात् कहते तो केवल त्रैगुण से पकड़ाता त्रैगुण विपर्यात त्रिगुण का अभाव पकड़ाता इन त्रिगुणों के अभाव से और जबकि क्योंकि अनंतर से विधिर्भवती प्रतिषेध वा तो इन पालिका की जो पहले है ये हमारी जो कारिका है इनकी पहले वाली जो कारिका है वहाँ वहाँ तक नहीं ले पाते अभी यदि असमात कहते तो वही संघात परार्थ के पहले आए थे ना जो कारिका हाँ यही वही वाले वही पकड़ पाते कौन नहीं पकड़ते हे तो मतलब व्यापी नहीं पकड़ पाते ये समीप वाला क्योंकि इदम शब्द समीप का वाचक होता है इसलिए कह रहे हैं विपर्यासाद असमाद इत्युक्ते यदि असमाद शब्द का प्रयोग करते तो एक नियम है अनंतर से विधिर्भवती वा प्रस्तेद हो वा व्याकरण भी आता मैंने अव्यवहित वाले को पकड़ते तो वह हित मत से नहीं पकड़ पाते मैंने त्रिगुण विपर्यास यही पकड़ते अतः त्रिगुण विपर्यासात इति अनंतरोक्तम संबद्ध यही कार्य का आती त्रिगुण विपर्यासात और क्या कहा त्रिगुण का अभाव है मैंने इस हाँ। वो तो पीछे वाला था यही वाला त्रिगुण माने त्रैगुण विपर्य यही वाला पकड़ा था त्रिगुण विपर्य अठारहवीं जो कार्यक्रम है जन्म अनुकरणा नाम प्रतिनियमान अयुग प्रवृत्ति पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण भी यही पकड़ता अस्मात मैंने यही हेतु पकड़ता और जब हमने कहा कि तस्मात कह दिया तदिति परोक्षे भी जानिया विपहित का भी पकड़ेगा वही कहने जा रहा अतः तन निराशा है उसको हटाने के लिए तस्माद इत्युक्तम माने जो दूरस्थ जो ग्यारह नंबर कारिका वहां से पकड़ना है इसलिए कहा अनंत रोकतम ही क्योंकि अनंतर यदि कहा जाता अभवेत तो सन्निधानात इदमो विषय इदम का विषय सन्निधान इदमस्तु सन्निकृष्टे कोष है इदम शब्द का कहाँ प्रयोग होता है एतद का कहाँ प्रयोग होता है तद का कहाँ प्रयोग होता है और अदस का तो इदमस्तु सन्निकृष्टे माने जितना दूर है उतना और एक तो इतना ये वाला ऐसा और अयम इतना अंतर हो गया एकदम दूर मतलब इतना मतलब समीप है सन्निकृष्ट है दिख रहा है परंतु तो यही होता ये अंतर हो गया तदा है जो हमको दिख नहीं रहा आपके उदासी बैठा हुआ और असौ मन दूर वो जहाँ पर हम लोगों का नल रखा वहाँ के लिए असौ प्रयोग होता है एक कोश का दमस्तु सन्निकृष्टे समीप समीप तरवर्ती चैत दो रूपम अधसस्तु विपकृष्ट अधस्तमान विपकृष्ट थोड़ा दूर में और तदिति परोक्षे में सह का अच्छे तो प्रयोग गलत है उन्हें सामने दिख रहा है और संस्कृत दृष्टि से कहा कि शाह गच्छित तो गलत है असौ गच्छित तो। यदि आंख से दिख रहा है तो परोक्ष नहीं हुआ ना तो प्रत्यक्ष हो गया तो उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए असौ गच्छति तो। और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं तो सह गच्छत तब वो सही है इस कोष के आधार पर वही कह रहे हैं सन्निधानात इदमो विषय विप्रकृष्टम तो तदिति विप्रकृष्टम च तदिति विप्रकृष्टम त्रिगुणम अविवेकी अप्रसव वही पकड़ना इत्यादि संबद्ध थे तस्मात त्रिगुणादि यो भी है त्रिगुण जो अभाव गुणों का पुरुष से अत्रिगुणत्व पुरुष अत्रिगुणी है विवेक वाला है अभिषय है और असाधारणत्व है चेतनत्व है अप्रसव धर्मी है पीछे कहा था तत्र चेतनत्वेन चेतन है इसलिए अभिषय है जड़ विषय होता चेतन विषय नहीं इसलिए कह रहे यथा चेतनत्वेन अतः अभिषयत्वेन यथा अभिषयत्म अतः वो साक्षी भी है और दृष्टा भी है दो धर्म आ गए साक्षित्व दृष्टित्व दर्शिते कुतादर्शिते चेतनत्वेन साक्षित्व अभिषयत्व दृष्टित्व तो ये दो वचन का रूप दर्शित है चेतनो ही दृष्टा भवती चेतन ही कौन होता है दृष्टा न अचेतन साक्षी कौन होता है जिसने विषय देखा हो वो साक्षी होता इसलिए का साक्षीता दर्शित विषयो भवती यशमयी प्रदर्शित विषय जो जिसके लिए हम सिद्ध कर रहे हैं मैं संसार के लिए साक्षी को सिद्ध कर रहे हैं जिसके लिए सिद्ध कर रहे हैं वो विषय होगा जो भी विषय होता है वो साक्षी होता है जिना साक्षी के नहीं होता यथा लोके अर्थ प्रत्यर्थ नो माने वादी प्रतिवादी नो दो है अर्थी माने चार आए और उसका एक विरोधी है ये हो गया वादी और प्रतिवादी तो अर्थी प्रत्यर्थ नो विवाद विषय साक्षिणे दर्शयता साक्षिण चतुर्थी का है मैंने जहाँ विवाद का विषय होता है वो साक्षी क्या करता है दिखाता दर्शयता माने दोनों करता है साक्षिणे का दर्शयता मने अर्थी प्रत्यर्थन विवाद विषय साक्षणे दर्शयता मैंने दर, मन दिखाते हैं साक्षी उनको क्या साक्षी को अपना अपना प्रक्षय रखते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं एवं प्रकृति रपी स्वचरितम प्रकृति हो गई अपना जो विषय करेगी वह पुरुष को दिखाएगी जैसे वादी प्रतिवादी ने साक्षी को दिखाया गवाह को तो प्रकृति भी क्या कर अपना जो स्वचरितम विषय संसार है पुरुषाय दर्शयती पुरुष को दिखाती यथा पुरुषा साक्षी दर्शयता हवा दर्शयता द्विवचन है करता है हाँ साक्षिण साक्षी के लिए न अचेतनो विषयो सक्यो मन जो अचेतन विषय नहीं हो सकता मन अचेतना विषय जो अचेतन है वो विषय है न दर्शय दर्शयितुम सकनोती वह किसी को वो देख नहीं सकता है दिखवा सकता है चैतन्य अभिषयत्वाच भवती इसलिए वो चैतन्य है और जो विषय वह स्वयं साक्षी नहीं हो सकता है अतः विषय होने से वो साक्षी भी है अतएव दृष्टा भी भवती अतः साक्षी अतएव दृष्टा वो क्या है दृष्टा भी है अस्त्र अत्रैगुण्याच वो तीनों गुणों का भाव है अस्त्र कई बल क्योंकि त्रिगुणता शून्य होना ही तो क्या केवल भाव है तीन रहेंगे तो सजाती रहेंगे इसलिए कैवल्य माने मोक्ष और कैवल्य कार्य तो स्वयं लिख रहे हैं एक बार पीछे भी लिखा है आत्यांतिक त्रया भावा कैवल्यम मैंने हमेशा के लिए तीनों दुखों का जो अभाव हो जाना यही क्या है मोक्ष है हाँ यहाँ रहा अत्यंत अभाव प्रथम माने शांत हो जाना मैंने अभाव हो जाना वही यहाँ से बताओ तस्य स्वाभाविकाद एव आत्रय गुण्यात सुख दुख मोह रही तत्व जो पुरुष है वो स्वभावता ही क्या है अत्री गुण्य है और जहाँ त्रिगुण होता है वहाँ सुख दुख मोह होता है इसलिए पुरुष में न सुख है न दुख है न मोह से रही इति सिद्धमत पुरुष से अतएव अत्र गुण्यात माध्यस्थ्यम जिस कारण से त्रिगुण से शून्य इसीलिए वो मध्यस्थ है क्यों मध्यस्थ है सुखी ही सुखत्न तृप्यन दुखी ही दुखम द्वेश्यन जो दुख जिसको सुख मिलता है सुख से प्रसन्न होकर उसमें संलिप्त हो जाता है मध्यस्थ नहीं बन सकता मध्यस्थ कौन होता है जो नीरज विवेकी हो और जो दुख से है दुखी है उसके कारण उल्टा सीधा निर्णय दे देगा इसीलिए उन्होंने कहा मध्यस्थ कौन व्यक्ति होता है सुखी ही न तृप्य सुख सुख से तृप्त होता हुआ दुखी ही दुखम दुषण दुखी दुख में द्वेष करता है दुसन मध्यस्थो न भवती द्वेष करता है इसलिए अपने मन की बात करेगा सुखी है जिससे हमको प्राम हो रहा है उसके अनुसार बात कर मध्यस्थ नहीं बन सकते हैं पर मध्यस्थ ना वो सुखी है ना दुखी है न भवत तद उभय रहता जो सुख और द्वेष से माने राग और द्वेष से जो रहित होता है वही मध्यस्थ होता है अर्थात उदासीन इतचा आख्यायते इसलिए गीता में कहा सुनन मित्रा उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधसु अलग अलग उन्होंने कहा हाँ तो उदासीन तृतीया मध्यस्थ को ना उदासीन विवेकवात अप्रसव धर्मित्वाच माने जिस कारण विवेकी है और किसी को पैदा नहीं करता है इसीलिए वो क्या हो गया अकर्ता कर्ता कौन होता है इनके यहाँ जो प्रसव धर्मी हो त्रिगुण हो अविवेकी हो वो कर्ता होता है ये अकर्ता है वही कर्ता चकर्ती सिद्धम स्याद तद एक और करते हैं अब बीसवीं कारिका आ रही है स्याद एतद प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थम अवगम्य चेतनो हम चिकीर्षण करोमी इनका कहना है कि जिसमें कृति रहती है जिसमें ज्ञान रहता है जिसमें इच्छा की उनके यहाँ सामान्यतया कर्ता का लक्षण क्या है उपादान आगोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व करता वो होगा जिसको ज्ञान हो इच्छा हो चिकित्सा हो और क्या प्रयत्न जिसमें कृति ये तीन चीजें जिसमें रवैया करता हो सकता है अब प्रकृति करता हो नहीं उसको ज्ञान होता नहीं है ये कहना चाह रहे हैं हाँ आप बताएंगे इस इसका मतलब है कि यदि करता वही व्यक्ति होगा जिसमें तीनों चीजें होंगी और तीनों चीजें किसमें हो सकती है पुरुष में ही हो इसलिए आप आक्षेप उठा रहा है स्यादेतन कि प्रमाणीन कर्तव्य मन प्रमाण के द्वारा मुझे ये करना है ये कर्तव्य उसकी बुद्धि अनेन दूसरा क्या होना चाहिए अर्थम अवगम्य मैंने मुझे एक प्रमाण रूप उस अर्थ को जान करके चेतनो हम चिकीर्षम करो मैं चेतन हूँ ऐसा इच्छा करता हुआ मी इति कृति चैतन्य यो कृति उसी जिसमें चेतनता मन चेतन मन ज्ञान है उसी में कृति भी है सामानाधिकरण अनुभव सिद्धम मैंने ज्ञान और चैतन मान ज्ञान और कृति एक जगह रहती है क्यों कर्ता का लक्षण है ज्ञान इच्छा कृति मत्व कर्तृत्व तद ए तस्मिन मते न इनके मत में ये नहीं संभव है क्योंकि कर्ता कौन है अचेतन कौन है पुरुष दोनों एक साथ नहीं है अतः ए तस्मिन मन के मते ना कल्पित नहीं हो सकते क्यों चेतन से अकर्तृत्व कुतश्च अचैतन्यात और जो जो चेतन वो अकर्ता है और जो हो अचैतन्य अचैतन्य जो करता इनके यहाँ है वो अचेतन है और जो चेतन है वो करता नहीं प्रकृति करता है तो अचेतन है और पुरुष अकर्ता है तो चेतन है और से ये दोनों एक साथ इत्यत आहा इसे दूसरी पार का तस्मात तत् संयोगात मन उन दोनों का अनादि संयोग है इसलिए उनमें कर्तृत्व तो काम प्रतीत होता है इत्यादि तस्मात तत्संयोगात अचेतनम मन उस पुरुष के प्रतिबिंब पड़ जाने से अचेतनम मन प्रकृति रूपम अव्यक्तम चेतनावदीव लिंगम मन चेतन की तरह प्रतीत होने लगता है लिंगम प्रतीति मन चेतन वदीव लिंगम मन प्रतीतो भवती सपदार्था प्रतीत होने लगता है क्यों करता है कोई गुण कर्तृत्व मनवा गुण का ही सब करता है तीनों गुण ही तो करते प्रकृति मान गुण कर्तृत्व तथा कर्ता ही भवती वो कर्ता की तरह वो दिखाई देता है हाँ है वह उदासीन करते कौन है गुणा गुणेश वर्तनते इसलिए गीता में ना न थे जो महान होता है यथा चैतन्य कर्तृत्व दिवचन का रूप है चैतन्यम कर्तृत्व यदि चैतन्य कर्तृत्व भिन्नाधिकरण हम लोग का चैतन्य कहाँ है पुरुष में कर्तृत्व कहाँ है प्रकृति में दोनों के एक अधिकरण के भिन्न भिन्न है वही कहना भिन्नाधिकरण युक्तिता सिद्धे मान युक्त पूर्वक तस्मात भ्रांतिर इम तो इम भ्रांति यह भ्रांति है कि जिसमें कर्तृत्व रहेगा उसमें चेतन रहेगा जो चेतन होगा वही करता ऐसा है तुम्हारा भ्रम है ऐसा कोई नियम नहीं है भ्रांति बीजम तत्व संयोग भ्रांति क्यों हो रहा है कि उनका संबंध है तो हमको लगता है कि पुरुष ही करता है पुरुष ही क्या है करता ऐसा भ्रम है करता कौन प्रकृति उनका यहाँ संयोग का तात्पर्य है प्रतिबिंब पढ़ना और यहाँ संयोग नहीं होगा एकदम दोनों जुड़ेंगे नहीं क्योंकि वह तो आगे पुष्कर पर लेप है ना हाँ तो जुड़ नहीं सकता उसका प्रतिबिंब तात्पर्य तत्सन्निधानम हाँ बस वो चीज चल जाता है लिंगम महादादि सूक्ष्म पर्यंतम बक्षती लिंग कौन उसके द्योतक कौन है तो महा से शुरू होकर के कहाँ तक चलता है पूरा सूक्ष्म महाद अहंकार वही कहने यदि बक्षती आप कह रहे पूरा अर्थ क्यों नहीं बताया दूसरा आगे वाला गुण करते करते भक्त उदासीन अतिथि रोहिता माने इसका अर्थ छिपाने सामान्य है कि गुण ही करता है होता तो उदासीन है इसलिए अब ना उत्तम ये उन्होंने विवरण नहीं किया स्पष्ट है अब आया बीस का हो गया इक्कीस बस ठीक है बहुत हो गया समझ बहुत गप करवा